आत्मेन्द्रिय मनयुक्त भूते त्याहुर मनीषिणा शरीर इंद्रिय मन उपाधि से युक्त होकर के ही आत्मा भोक्ता होता है शुद्ध आत्मा में केवल में भक्तृत्व तो नहीं है उसमें इंद्रिया श्रुति प्रमाण ध्यायते व ललायते हो एवं च सति वक्षमाण रथ कल्पनया वैष्णव से पदस्य आत्मतया प्रतिपत्ति उपपद्यते वास्तव भोक्तृत्व कर्तृत्व नहीं होने से आत्मत्वेन प्रतिपत्ति अहम ब्रह्म ये ज्ञान श्रुति के द्वारा जो उपदिष्ट होता है तभी संभव होगा यदि ब्रह्म निर्विशेष से जीव अत्यंत भिन्न हो कर्ता भोक्ता संसारी हो तो ब्रह्म का ज्ञान अहम अस्मि ब्रह्म ये संभव नहीं दोनों विलक्षण भिन्न है वास्तव भेद नहीं है उपाधि के में भेद होता है और उपाधि का भेद बिंब एक है प्रतिबिंब अनेक दिखते बिंब प्रतिबिंब का भेद प्रतिबिंब का परस्पर भेद ये दिखता है किंतु वास्तव भेद नहीं है अथवा आकाश एक ही है सब के अंदर बाहर आकाश आकाश गुहा गुहाकाश अलग-अलग नाम उपाधि को लेकर व्यवहार करते हैं वास्तव तो भेद नहीं है तो यह रथ रूप कल्पना करके आगे उसी वैष्णव पद विष्णु रिधम इति वैष्णवम वैष्णव का थे विष्णु का विष्णु के ही जो पद पद्यति गम्यति इति पदम स्वरूप रथ कल्पना से आगे कहेंगे जो विष्णु का स्वरूप है विष्णु है भी व्यापक ब्रह्म है वेवेष्टि चराचरम इति विष्णु बिस्ली व्यातु धातु से नु प्रत्यय होता है विषय किच्च और प्रत्यय की तो उनसे गुण नहीं होता है भूगंध गुण तो विष्णु बनता है ज्योति आदि में धातु बिस्ली व्याप्तो विवेष्टि चराचरम चर अचर सब को व्याप्त करने वाले विष्णु है परिचिन्न रूप से कभी प्रकट हुए हैं होते हैं वो अलग है किंतु वास्तव स्वरूप तो व्यापक है ब्रह्म विष्णु वैष्णव से विष्णु हृदम वैष्णव पदम ये शुद्ध ब्रह्म उसका ज्ञान न अहम अस्मि ऐसा ने प्रतिपत्ति तभी बनेगी बनेगी यदि वास्तव कर्तृत्व भौतृत्व नहीं हो तभी वास्तव यदि आत्मा में कर्तृत्व भौतृत्व होगा तो शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान अहम अस्मि कैसे होगा अन्यथा अन्य प्रकार संभव नहीं स्वभाव अनतिरिकात यदि ये आत्मा में कर्तृत्व भूतृत्व वास्तव है स्वभाव तो रहेगा अनतिक्रमात स्वभाव का अतिक्रमण नहीं हो सकता है कुछ भी करने पर भी अपना स्वभाव तो रहेगा अग्नि का स्वभाव है उष्ण प्रकाश ये जहाँ कहाँ भी हो अग्नि तो उष्ण इस प्रकाश प्रकाश ही है सूर्य का जिस प्रकार उष्ण है प्रकाश है इसी प्रकार उसका वास्तव धर्म की निवृत्ति नहीं होती आत्मा कर्त्रादि रूपश्चेत महाकांक्षी स्तरी मुक्तता यदि आत्मा कर्ता भोक्ता आदि है संसारी है तो उसके स्वभाव की निवृत्ति नहीं होगी तो मोक्ष कैसे होगा तरी मुक्तता महाकांक्षी ही मुक्ति की इच्छा नहीं करो स्वभाव की निवृत्ति कभी नहीं होगी न स्वभाव ही भावानम व्यावर्ते तो उसने बद्रवे भावानम स्वभाव पदार्थ का स्वभाव उसकी निवृत्ति नहीं होती जैसे रवि में सूर्य में और उष्ण स्पर्श है प्रकाश है इसलिए वास्तव भक्तृत्व नहीं इस मंत्र में यही देखा गया वास्तव भक्तृत्व नहीं है औपाधि के भक्तृत्व अन्य वेत्र को शास्त्रम च प्रमाण मिथ्या अन्य व्यत्र के भी प्रमाण शास्त्र भी प्रमाण है वैष्णव पद प्राप्ति श्रुति अनुपपत्यापि न स्वाभाविकम भक्तृत्व वाच्य मिथ्या यह अर्थापत्ति प्रमाण है वैष्णव पादि प्राप्त वैष्णव पद की प्राप्ति इस श्रुति में कह गई जो वैष्णव पद की प्राप्ति कही गई वो अन्यथा अनुपपति वास्तव कर्तृत्व हो तो नहीं होने से ही बनेगा वास्तव कर्तृत्व हो तो होते नहीं बनेगा अन्यथा अन्य प्रकार न औपाधिक वक्तृत्व के बिना अन्यथा का अर्थ अन्य प्रकार न औपाधिक वक्तृत्व कर्तृत्व होने से ही वैष्णव पद की प्राप्ति हो जाएगी जो श्रुति में कही गई ये अन्यथा अनुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण से विसिद्ध होता आत्मा में भोक्तृत्व स्वाभाविक नहीं है स्वाभाविक भोक्तृत्व होगा तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी तो वैष्णव पद शुद्ध ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी श्रुति में कहेगी श्रुता श्रुतार्थापति इसको कहते श्रुति में कहा गया ज्ञान होने से अपनति परम पदम वैष्णव पद को प्राप्त करता है तो तभी संभव है यदि औपाधिक भोक्तृत्व हो स्वाभाविक भोक्तृत्व हो तो वसनम पद की प्राप्ति तद ऐक्य संभव नहीं है इत्या एवं च सति तत्र एवं सति ये अभी आगे कहते हैं रथ रूप को कल्पना हुई बुद्धि नामक सारथी है मन लगाम है और जीव है रथी देह को रथा मन करके कल्पना की गई यस्त्व विज्ञानवान भवत्ययुतेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टा इव सारथेः यस्तु अविज्ञानवान भवति अविज्ञानवान यस्तु सारथी विज्ञानवान नहीं है यह पद से सारथी जो बुद्धि रूप सारथी विज्ञानवान नहीं अविज्ञानवान तो रथ को चलाने के लिए घोड़ा घोड़े को शासन करने के लिए विज्ञान नहीं कुशल नहीं निपुण नहीं है अविवेक है तो मनसा अयुक्तन मनसा सदा मन से युक्त नहीं मन का मन के द्वारा निग्रह करना चाहिए प्रग्रह लगाम के स्थान पर मन है उसे सदा जति समाहित नहीं युक्त नहीं है अयुक्त है तब तस्य इंद्रियाणि अवश्यानी इंद्रिय उसके वश में नहीं है अधीन में नहीं है इंद्रिय इधर-उधर भागते हैं जिस प्रकार दृष्टांत दिया दुष्टा स्वयं सारते सारथी इस प्रकार यदि मन को ठीक अपने लगाम को पकड़ मन नहीं लगाम को पकड़ रखा है घोड़े को अपने अधीन रखा है तब तो मार्ग पर चलेगा रथ चलेगा नहीं तो दुष्ट अश्व दुष्ट अश्व होते हैं इधर उधर भागते लेकर कहीं गार्डन में गिरा देंगे रथ को या सारथे दुष्टास्वा इव तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि जिस प्रकार सारथी के दुष्ट स्व अपने अधीन में नहीं है इसी प्रकार जो अनिपुण निपुण नहीं ऐसा बुद्धि नामक सारथी मन को लगाम को पकड़ा नहीं है मजबूत करके इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखा तो इंद्रियाणि अवश्यानि इधर-उधर भागेंगे तत्रैवम सत्यस्तु बुद्ध्याख्य सारथिर अविज्ञानवान अनिपुण अविवेकी यस्तु पद से सारथि लेना बुद्ध्याख्य सारथि बुद्धि आख्यायस्य से बुद्धिरा बुद्धिराख्याय से बुद्धि नामक सारथि अविज्ञानवान विज्ञानम अस्य अस्तिति विज्ञानवान न विज्ञानवान इति अविज्ञानवान विज्ञान ज्ञान नहीं निपुण नहीं अनिपुण अविवेकी किसके लिए प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए नहीं जानता है क्या करने पर घोड़े चलेंगे क्या करने पर नहीं चलेंगे ये समझने पर घोड़ा के ऊपर बैठना है घोड़े के ऊपर बैठा अभी बैठा नहीं वो लगाम को पकड़ कर खींच लिया घोड़े दौड़ने लगे गिर पड़ा कोई कैसे बैठते हैं कहते इसको पकड़ के रखो और पकड़ रखो तो खींच लेते खींच लेते तो घोड़ा चलने लगा बैठा नहीं ढंग से कहीं रुकने का है वो भी पता नहीं तो प्रवृत्ति में निवृत्ति में जो अविवेक है किस प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति कहाँ होनी चाहिए कहाँ नहीं होनी चाहिए ये बुद्धि सारथी जाननी चाहिए जानना चाहिए तब रथ ठीक चलेगा घोड़े भी ठीक चलेंगे घोड़े चलेंगे रथ को ठीक स्थान पर लेंगे तो प्रभुत्व च निवृत्तो च जो अविवेकी है भवति वस्तु यस अच्छा तत्रैवम सति यस्तु बुद्धिया के यस्तु वे कहीं ब है तो य बनाना तत्रेवं सति यस्तु बुद्धिया के सारथि रवि ज्ञानवान अच्छा सारथि के आगे र नहीं होगा तो नए पुस्तक में सारथि रवि ज्ञानवान यस्तु य तत्रेवं सति य यह तु बुद्धि यस्तु बुद्धिया के सारथि रवि ज्ञानवान अनिपुण अविवेक हो प्रवृत्ति निवृत्ति में यथा इतरो इतरो जिस प्रकार सारथी रथचर्यायाम यहाँ एक या अधिक है काटना रथचर्याया चर्यायाम चर्या में तो या है और एक या है चर्यायाम इसमें और भी एक या था पुराने में है रथचर्या का सप्तम अंत रथचर्यायाम रथचर्या में रथ चलने में जैसे चलाने में सारथी यदि निपुण नहीं अयुक्तेन अप्रग्रह अप्रगृहितेन असमाहितेन मनसा जब प्रग्रह नहीं समाहित नहीं है तो मन प्रग्रह स्थानीय न सदा युक्त तो। प्रग्रह स्थानीय मन से जिस प्रकार सारथी प्रग्रह से उसको संयम करके घोड़े को ठीक नहीं चलाता चलाता है इसी प्रकार जो बुद्धिया के सारथी समाहित नहीं है और मन से युक्त नहीं है प्रग्रह स्थाने मन से सदा तो इतर सदा युक्त भवति असमाहित न असमाहित मन से युक्त होता समाहित मन से नहीं है तस्य अकुशलस्य बुद्धिसारथेर अकुशलस्य बुद्धिसारथेर बुद्धि रूप सारथी अविवेक सारथी जो कुशल नहीं बुद्धि है सार बुद्धि अविवेक सारथे इंद्रियाणि अस्वस्थानियानि अवश्यानि अस्वस्थानीय इंद्रिय अपने वश में नहीं और अवश्यानि असक्यानि अनिवारणयानि असक यहां दे अवश्यानि असक्यानि अनिवारणयानि ऐसा भाष्य में है और अन्यत्र गोपाल टीका के अनुसार यहाँ पाठ अशक्य निवारणीयानि अवश्यानि का अर्थ कर अशक्यानि फिर अनिवारणीयानि इसके स्थान पर अशक्य निवारणीयानि इसे पाठ है टीका के अनुसार गोपाल यतीन्द्र टीका के अनुसार वो बनाने क्या नहीं अशक्य निवारणीयानि अशक्यम निवारणम येषाम तानी अशक्य निवारण यानी ऐसे में कर दे अवस्यानि का तो नहीं फिर अनिवारण यानी जो निवारण करने के योग्य नहीं दुष्टास्वा दोष युक्त अशोक दुष्टाशोक कहते हैं दोष क्या है अदांताशा जिनका दमन नहीं किया दांत दमन से दम धातु से निष्ठा करें तो दांत बन जाएगा दीर्घ कैसे हो जाएगा अनुनासिक से दमन हाँ, नहीं किया गया निपातन हाँ ये विकल्प के आने के लिए नहीं विकल्प के लिए अन्य रूप भी बनेगा विकल्प करने के लिए अन्य है नहीं तो इसी से अन्ना से कुछ जल से होता है और अन्य पक्ष है अन्य रूप बनेगा विकल्प से होगा तो दानता सदस्य सतपद का अर्थ है एव इतर सारथे हि ये दानता कहाँ से आया सद अस्वा सत पद का अर्थ है दमन युक्त ये अब इतर सारथे जो रथ में सारथी उसके अश्व यदि दमन युक्त है वो तो उसको निवृत्त कर सकता है ऐसा नहीं तो अन्य सारथी निवृत्त नहीं कर सकता है इंद्रियों को प्रवृत्त निवृत्त नहीं कर सकता है सदस्य है दांत सदस्व है दमनयुक्त सदस्य है तो तो उसको निवृत्त कर सकता है प्रवृत्त करा सकता है नहीं तो नहीं कर सकता है अच्छा ये कहाँ रह गया हम्म? पंचम नंबर है ना पंचम से हो गई हाँ दुष्टाशा अदांताशा इव इतर सार्थिर भवती पंचम मंत्र षष्ठ मंत्र में यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथेः पहले तो सारथे ये सदस्वा इव सारथे यस्तु विज्ञानवान भवति उससे विलक्षण है विज्ञानवान भवति जो सारथी निपुण हो युक्तेन मनसा स वो तो अयुक्तेन मनसा था ये युक्तेन मनसा वो हम मन असमाहित तो। यहाँ मन समाहित है लगाम स्थानीय मन समाहित जो है उससे युक्त जो बुद्धि विवेक की बुद्धि रूप सारथी है तस्य इंद्रियाणि तस्य चाहिए कहीं यस्य ते त बनाना तस्य इंद्रियाणि वश्यानि उसके इंद्रिय गुड़े स्थान अपने अधीन में है वश्य है जिस प्रकार सारथे सदस्व जिस प्रकार रथ सारथी के सदस्व दमनयुतस्व अपने अधीन में अश्व को पहले दमन करने के लिए बैल आदि को जो चलाते हैं उसको दमन करने के लिए सिखाते हैं लेकर के रेत में घोड़े को बांध करके रथों को खींचेंगे वजन लेकर के बैल को लेकर के रेत में हल कराएंगे कहीं बाएं चलना दाएं नहीं चलना रुकना सब सीखने के बाद रथ में लगाएंगे नहीं तो रथ लगाते ही दौड़ेगा तो इधर उधर गिरा देगा दमन करते सिखाते हैं या कहीं कहीं पत्थर ऊपर जोर ले करके अब लगते बैल घूमता रहेगा इतने वजन है खड़े नहीं हो सकता है फिर चलता है चलने में इसे घूमता चार तरफ ऊपर पत्थर रखा गया और लकड़ी में रख कर वजन करके वजन होगा गरम वजन गया तो चलेगा तो इसे चलता ही रहेगा कुछ कहीं नहीं गुरु तो चलता है क्या इसलिए करते हैं तो सिखाते दमन चलना सीखेगा ऐसा वजन होगा तो फिर पहले उसके चलाएंगे जैसे तेली तेल निकालने के लिए कहते के चलता रहता है कुछ नहीं करना है वजन रखा गया वो चलता रहेगा फिर दोनों को बांध करके लेकर के नदी में रेत में ऐसे खेत जैसे हल चलाएंगे इधर उधर दौड़ेगा पिटाई पिटाई भिड़े करेंगे तो जाए इधर चलो इधर चलो सिखाएंगे दमन करने पर जिस प्रकार अश्व सारथी के अधीन होते हैं इसी प्रकार जो निपुण बुद्धि सारथी युक्त समाहित मन से युक्त प्रग्रह स्थान से युक्त है तो उसके इंद्रिय अपने वश में है वही बुद्धि रूप सारथी जीव को लेकर के ठीक उचित स्थान में पहुंचा देता है इसलिए यही से बुद्धि रूप सारथी होना चाहिए तब रथ चलेगा देह देह शरीर रथ रथी है देह में स्थित जीव अपन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है टीका में यस्तु पुनर्पूर्वोक्त विपरीत सारथी भवति पहले तो अभिज्ञानवान अनिपुण सारथी कहा गया था ये उससे पूर्वभूत विपरीत है सारथी विज्ञानवान है विज्ञानवान का तो प्रवृत्ति निवृत्ति में उसका विवेक है जानता है निपुण विवेकवान विवेक है विज्ञानवान निपुण विवेकवान युक्तेन मनसा प्रगृहित मनसा प्रगृहित मना प्रगृहितम मन यस्य सारते स प्रगृहित मना समाहित चित्त उसका चित्त समाहित है ऐसा जो सारथी है सदा तस्य अश्वस्थानियान इंद्रियाणि वश्यानि घोड़े स्थानीय इंद्र है इंद्र प्रवर्तयितुम निवर्तयितुम वा शक्यानि वश्यानि वो प्रवृत्त करा सकता है निवृत्त करा सकता है इंद्र की प्रवृत्ति होती है ऐसे घोड़े चलते तो है जरूर किंतु उनको वश में रह करके सारथी रथ में चलाता है घोड़े आवश्यक है रथ चलने के लिए किंतु अधीन में रह करके चलाना है इसी प्रकार इंद्रियों को वश में करके प्रारब्ध में जितने भोग करना पड़ेगा चलना फिरना होता है इंद्र की आवश्यकता जरूर है अधीन में रह करके तो उनको यदि जीत लिया वो इंद्र मित्र हो जाते हैं तानेव मित्राणि जितानि यानी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया तो मित्र होते हैं घोड़े तो चलाने के चाहिए नहीं दमन नहीं किया गया तो गिराएंगे और सिखा करके लगाम ठीक रखे तो रास्ता में लेते हैं नहीं तो रथ कहाँ चलेगा इसी प्रकार इंद्रियाणि प्रवर्तयित्व निवर्तयित्व अशक्यानि ऐसा जो निपुण विवेकी बुद्धि हो सारथी इंद्रियों अपने वश में हो तो शरीर को ठीक स्थान पर रास्ता पर चला सकते हैं रथ स्वामी जीव लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है दांतः सक्यानि वस्यानि दांतः सदस्य एव सारथे यहाँ जो दांता शब्द आया सदस्य में सत्पद का अर्थ दमनय तत्व जिसके हो इतर सारथी मार्ग चलाने वाले सारथी के दमन युक्त अश्व जिस प्रकार ठीक रास्ता पर चलाएंगे इसी प्रकार जो सारथी बुद्धि रूप सारथी निपुण हो समाहित मन हो इंद्र को प्रवृत्त निवृत्त करने के लिए समर्थ हो तो वो भी ठीक स्थान पर चल सकता है रास्ता पर चला सकता है शरीर रथ को चला सकता है तो रथ स्वामी जीव लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है तत्र पुरोक्तस्य अविज्ञानवत्व बुद्धिसारते इदं फलमः जो दो प्रकार बताए पंचम षष्ठ मंत्र में पहला तो एक सारथी अनिपुण है मन समाहित नहीं है दूसरा सारथी है निपुण है पहला सारथी इंद्रियों को वश में नहीं रखा घोड़े स्थानीय इंद्रियों को दूसरा सारथी अपने वश में रखा दोनों भिन्न भिन्न है तो दोनों का फल बताते तत्र पुरुक्तस्य अभिज्ञानवत बुद्धि सारथे पंचम मंत्र में जो कहा बुद्धि नामक सारथी अब विज्ञान रहित निपुण नहीं है प्रवृत्ति निवृत्ति में कुशल नहीं है ऐसे सारथी बुद्धि सारथे रे बुद्धि रूप सारथी का यह फल कहते हैं यस्त विज्ञानवान भवत्यमनस्क सदा शुचि न स आपनोति संसारम चादि गच्छति यस्तु अविज्ञानवान भवति अविज्ञानवान भवति सारथी अमनस्क मन उसका समाहित नहीं है सदा असुचि है हमेशा असुच है अपवित्र है मन समाहित नहीं हो तो अपवित्र है तो अशुद्ध अंत है बुद्धि निपुण नहीं तो न पदम तत तत्पदम व्यापक ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं कर सकता है नहीं प्राप्त करता है तो ऐसे हो तो जाकर कहाँ पहुंच जाएगा गिर जाएगा जैसे संसार रथ चलाने वाले निपुण नहीं सारथी है और लगाम को ठीक नहीं पकड़ा घोड़े को अपने बस में नहीं रख सकता है वो कहाँ लेकर रथ को गिराएंगे पूरा रथ घोड़े सब गिरेंगे रथ स्वामी भी जाएगा संसारम चाधिगच्छति वही संसार को प्राप्त करेगा वहां तो रथ लेके गिराते हैं यहाँ संसार को प्राप्त करेगा संसार कहन से जन्म मरण आदि सब है उसमें नरक आदि भी सब है स्वर्ग नरक आदि भी है कहाँ कब जाएगा पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनेगा संसार को प्राप्त करेगा भाष्य में यस्तो अभिज्ञानवान भवति अमनस्क का तो अप्रगहित मनस्क <clears throat> अविद्यमान मनो यस्य उसका अर्थ अप्रगृहितम मनो येन मन को जिसने अपने ग्रहण नहीं किया समाहित मन जिसका नहीं लगाम स्थानीय मन को सततैव असुचि भवति इसलिए असुचि होता है ततैव असुचि सदैव हमेशा अपवित्र ही होता है मन को ही अपने वश में रखने पर ही ये मन ही मोक्ष का साधन होता है मन सेवा अनुद्रष्टव्यम और यदि अशुद्ध अंतकण है तो वही मन संसार को प्राप्त कराता है इसलिए असुचि सदैव न स न स तत्व पदम आपनति न स स कात रति सरति पुरोत्तम अक्षरम यत परम पदम आपनति तेन सारथिना इस प्रकार अनिपुण सारति से न सारति नहीं न स रति वह रति रथ स्वामी जीव पुरुक्त जो अक्षर पद है अक्षरम यत परम पदम वर ब्रह्म पद उसको प्राप्त नहीं कर सकता है जीव का तो लक्ष्य अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करना है ज्ञान होने पर प्राप्त उसको जानना है ये लक्ष्य है यात्रा का तो प्रारंभ अनादिकाल से हो गया है लक्ष्य वही है अन्य जीव जितनी योनि में वो पता नहीं चलता है कहाँ लक्ष्य लक्ष्य है सब इधर-उधर खा पी करके चलते मरते हैं देवता लोगों को थोड़ा मालूम तो है हमारा लक्ष्य है किंतु भोग आसक्त होने से भोग छोड़ नहीं पाते भोग में अत्यंत आसक्त भोग करने के लिए स्वर्ग में गए भोग आसक्त होने से वैराग्य नहीं होता है इसी प्रकार अभी जो मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं उनको लक्ष्य पता है पशु पक्षी को पता नहीं है मनुष्य को पता है कि जो भोगासक्त होता वासना विशिष्ट है और पता होने पर भी उसको पीछे कर लेता है चलता है अपने रास्ता पर सुनता है समझता है दूसरे को उपदेश भी करता है उपदेश करने वाले कहेंगे कुछ नहीं करो सब अपने आत्मचिंतन करो धन संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं अपने इकट्ठी करते रहेंगे दूसरे को सिखाएंगे भजन साधना करो स्वयं अपने अपने इधर भटके रहे साधन भजन कुछ नहीं करते हैं ये सब हो जाएगा किंतु लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिए अशुचि अपवित्र होने से ये मन संसार की ओर जाता है जन्म मरण प्राप्त करता है तो मन को समाहित करके लक्ष्य के ओर चलना मनुष्य विचार करके निश्चय रखे लक्ष्य किया है लक्ष्य को भूल जाएंगे तो कहाँ जाना है पता नहीं तो फिर कहाँ जाना है रथ पर बैठा है कहाँ जाना जैसे नए स्थान पर पहुंचा कहाँ सीधा चलना कहां बाएं चलना कहां दाहिने चलना पता नहीं तरतर पर बैठाया था गाड़ी चलाता है कहाँ जाएगा जितने निपुण गाड़ी चलाने वाला भी हो पूछना पड़ेगा कहाँ जाना नहीं तो कैसे पता है लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा कहीं दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा यह लक्ष्य को पूर्वतम अक्षरम यत परम पद को प्राप्त करता है तेन सारथिना ऐसे निपुण सारथी के द्वारा स रत स्वामी जीव परम पद को प्राप्त करता है लक्ष्य को जानता है उसको प्राप्त करता है जो उसका लक्ष्य है न केवलम कैवल्यम न आपनोति संसारम च अधिगच्छति न रति तत्पुरम अक्षरम प्राप्नोति ये तो उसके लिए कहते हैं ऐसा रथ स्वामी अक्षर पद को प्राप्त नहीं कर सकता है इसी सारथी से तो कैवल्य मोक्ष को प्राप्त नहीं करता इतने मात्र नहीं न केवलम कैवलम नापनति कोई व्यक्ति रथ में नहीं बैठा वो गिरा नहीं अपने आप बैठा है ये रथ में बैठ गया और रथ चलाना नहीं जानता है तो रथ के साथ गिरेगा मरेगा इसलिए केवल कैवल्य को प्राप्त नहीं करता जो नहीं बैठा वो तो आगे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है रथ में बैठने वाले ही प्राप्त नहीं कर सकता है किंतु रथ में बैठने वाले और विपत्ति को प्राप्त करता है मरता है गिरकर जो नहीं बैठा तो अपने स्थान में बैठा है रथ में बैठा तो न केवल कैवल्यम नाप्नोति संसारम चाधिगच्छति संसार जन्म मरण लक्षण जन्म मरण दो का नाम ले लेते हैं बाकी सब को समझ लेना संसार संसार सुनते सुनते जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो बड़े सरल हो गया है जन्म मरण मरण कहते तो समय कुछ नहीं लगता है क्योंकि मरण का तो दूसरे का मरण है अपना मरण नहीं सोच पाते हैं जन्म मृत्यु कहेंगे ना मरण का नाम लिया कभी के, कोई मर गया को लेते हैं लाश दिखाए वो स्मरण आता है जन्म मरण अपना मरण का चिंता नहीं होता है तो अन्य किसको ले रहे तो हमारा क्या बिगड़ता है इसे जन्म मरण जरा व्याधि कहते समय दूसरे रोगी दूसरे मर गया वो सोते हैं किंतु ये सोचे अपना ही होने वाला है ये सोचने पर एक बार नहीं कितने बार जन्म मरण हुआ और कितने बार चले ज्ञान नहीं हो तो इसको प्राप्त करता संसारम जाति गच्छति यही उसका फल हुआ अनिपुण सारथी हो तो आगे अष्टम मंत्र है यह तो उसका विपरीत है षष्ठ मंत्र में जो सारथी का विज्ञानवान सारथी यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि सतु पदम आपनोति यस्माद् भूयो न जायते यस्तु विज्ञानवान भवति जो सारथि विज्ञानवान है विज्ञानवान विज्ञानवत सारथी उपेत यहाँ रथी के लिए कह दिया विज्ञान विज्ञान विज्ञानवान तो सारथि है ऐसे सारथि वाला जो होगा समनस्क सदा शुचि मन युक्त है मन युक्त समाहित है तो सदा शुचि मन समाहित है तो अपवित्र है मन समाहित है तो पवित्र है मन समाहित मतलब सम्यक आहित बाहर से छोड़ करके आत्मा में लगाया एकाग्र करके लक्ष्य की ओर चला व्यर्थ चिंतन छोड़ करके लक्ष्य की ओर चला तो समाहित हुआ तब पवित्र है और जब लक्ष्य को नहीं छोड़ करके इधर भटक रहा है बाहर ब्रह्म गुरु घूम रहा है तो अपवित्र है मन पवित्र अपवित्र का भी ये लक्षण है मन शुद्ध है अशुद्ध है कैसे पता चलेगा अपने आप देखो मन यदि स्थिर होकर के लक्ष्य की ओर चिंतन करता है परमात्मा चिंतन करता है तो शुद्ध है यदि परमात्मा का के चिंतन छोड़ करके बाह्य प्रपंच चिंतन करता है रोज रोज विचार करे मन कितने समय परमात्मा में लगता है और कितने समय झूठे प्रपंच में भटक रहा है अधिक समय प्रपंच में भटक रहा है तो मन पवित्र है अपने आप परीक्षा करना मन कितने पवित्र कितना पवित्र रोज विचार करना सोने के पहले थोड़ा मन आज के दिन में कितने समय परमात्मा चिंतन किया और कितने समय संसार में भटका आगे संकल्प क्या कर रहा है परमात्मा प्राप्ति के लिए संकल्प कर रहा है या उसने हम कैसे कहा उसको हम ऐसे कहेंगे वो हम भी इकट्ठी करेंगे हम भी ऐसा करेंगे सब लोग को इकट्ठी कर बनाते हैं बोलते सब ठीक है साधन भजन करेंगे थोड़ा ढंग से रहेंगे ठीक से रहेंगे फिर साधन करेंगे ठीक से रहने के लिए थोड़ा कुछ बनाओ अच्छी व्यवस्था सब कर लो फिर बैठ कर तो साधन तो करना है वो तो साधन तो करना ही है और क्या है और क्या करना है ये तो करना है किंतु थोड़ा ठीक कर दे एक हुई थोड़े दिन श्रवण किया बड़ा खुश हो गया बोला हाँ यही करना है श्रवण तो करना है किंतु थोड़ा सा भी थोड़ा काम बाकी है थोड़ा काम पूरा कर देंगे तो आप पूरा सुनेंगे और श्रवण बहुत आशा अच्छा यही करना ही है यही करना ही करना करके ओ एक साल दो साल तीन साल हो गया एक महीना सुना था एक दो महीना आगे शुरू होने के समय नहीं आता है तो काम समाप्त हो जाए तो करेंगे ना काम समाप्त तो कहाँ होगा समाप्त तो नहीं होता है इसी प्रकार गौण मुख्य मुख्य कार्य संप्रत मुख्य पहले करना है तो मन शुद्ध है अथवा अशुद्ध है अपने आप परीक्षा करें संसार से वैराग्य होता है तो संसार में मन भटकेगा नहीं और वैराग्य होता है चिन्ह शुद्ध मन का और जितने विषय की इच्छा है इतने मन या विक्षेप होगा तो मन अशुद्ध है तो मन परमात्मा में लगता है संसार में नहीं लगता है तो शुद्ध है संसार से विरक्त है वैराग्य हो और यदि संसार की ओर भटक रहा है परमात्मा चिंतन के अभ्यास संसार चिंतन अधिक करता है तो मन अशुद्ध है सदा शुचि हो गया मन समाहित है तो सदा सुची सत्तु तत्पदम आपनते इसे जो रति तत्पदम आपनति वही परम पद अक्षर ब्रह्म पद को प्राप्त करता है प्राप्त करता है क्या तो गौण है साक्षात्कार कर लेता अहम अस्मि वही प्राप्त है साक्षात करना अप्राप्ति ब्रह्म निवृत्त हो गया तो प्राप्त कर लेता है वो पद कौन सा पद है यस्माद् भूयो न जायते जिसे फिर और जन्म संसार में नहीं आता है एक है अपने स्वरूप है तो उसको ज्ञान जान लिया तो तद्रूप हो गया आगे जन्म को प्राप्त नहीं करेगा जन्म का मूल कारण अज्ञान है अविद्या अनादि ज्ञान होते ही अविद्या की निवृत्ति होगी और अनादि अविद्या दो बार आ जाएगी क्या अनादि की उत्पत्ति कब होती है निवृत्ति के बाद या पहले अनादि की उत्पत्ति ही नहीं होती नष्ट हो गया तो गया जैसे घट का प्राग अभाव उत्पत्ति के पहले जो अभाव था घट बनते ही प्रागभाव समाप्त हो गया और उसी प्रागभाव को तैयार करने के लिए लाने के लिए जितने बुद्धिमान समर्थ व्यक्ति हो नहीं ला सकते हैं बड़े-बड़े समझदार व्यक्ति उसी प्रागभाव को फिर नहीं ला सकते जो उत्पत्ति के पहले जो घट का प्रागभाव था घट बनते ही नष्ट हो गया घट को तोड़ देंगे तो प्रागभाव आ जाएगा घट को तोड़ेंगे तो घट का अभाव का उसको कहेंगे ध्वंस भाव नहीं आएगा इसी प्रकार अनादि अविद्या है अनादि काल से है ज्ञान होते अविद्या की निवृत्ति होगी आगे फिर अविद्या नहीं तो जन्म नहीं होगा यस्माद् भूयो न जायते भाष्य में यस्तु द्वितीयो प्रथमते अविज्ञान सारत्य वाला द्वितीय है विज्ञानवान यस्तु विज्ञानवान विज्ञानवान तो सारति उसका अर्थ क्या विज्ञानवान सारति उपेतो रति विज्ञान निपुण सारति युक्त जो रति है विज्ञान बुद्धि निपुण बुद्धि वाले ऐसे सारति निपुण बुद्धि वाले सारति युक्त रति है रतस्वामी अर्थात विद्वान विद्वान मना युक्त युक्तमनो यस्य समाहित समाहित मन समनस्क सत्तत्वैव सदा शुचि इसलिए मन यदि समाहित है तो पवित्र है मन एकाग्र है समाहित है तो पवित्र है शुद्ध है मन असमाहित है अनेकाग्र है तो अपवित्र है अशुद्ध है अंतगुण शुद्ध नहीं हुआ वही मन शुद्ध हो जाता है तो परब्रह्म को प्राप्त करा लेता है मन में परब्रह्म की अभिव्यक्ति हो जाती है वही मन अशुद्ध होने पर नरक प्राप्त करा लेता है जो समाहित मन है निपुण बुद्धि मन को समा अपने अधीन में रखती है बुद्धि बुद्धि के द्वारा मन को संयम करना है तो मन से इंद्र का भी वश में आ जाएंगे इंद्रियों को वश में रखने के लिए मन के द्वारा बुद्धि वश में रखती है तो बुद्धि विवेक हो विवेकवान निपुण हो तो बुद्धि के द्वारा समाहित मन करके इंद्र को वश में रखे तो ऐसे बुद्धि वाला निपुण होता है पवित्र है वो तत्प सतु तत्पदम आपनुति वह वैष्णव पद पर ब्रह्म पद व्यापक स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है यस्माद आप्तात पदार्थ अप्रच्युत सन भूय पुनः न जायते संसारे यस्माद आप्तात पदा जिस पद प्राप्त हो जाने पर पदार्थ अप्रच्युत उससे फिर प्रच्युत नहीं होता अलग नहीं होता है वस्तु तो अभी भी अलग नहीं हुआ अज्ञान के कारण अपने को भिन्न मानता है सपने में अपने को देखता है का विकर को से सपने में देखता है मैं भूखा हूँ प्यास हूँ चलता है दुखी होता है रो रहा है अज्ञान के कारण अपने में कल्पना करता है जिस प्रकार अभी भी इस प्रकार अपना स्वरूप का स्वरूप में कुछ बिगड़ता नहीं कुछ सुधार करने का नहीं स्वरूप से प्रच्युत हुआ ही नहीं इसलिए स्वरूप का नाम अच्युत है कभी च्युत नहीं होता है किंतु अज्ञान के कारण अपने को मानता है मैं अलग मैं ब्रह्म से भिन्न हूँ संसारी हूँ जन्म मरने वाला हूँ जिस प्रकार स्वप्न मानता है भोजन करके पानी पीकर सोया भूखा हूँ मांगता है हमको थोड़ा किला दे दो झूठा भी दे दो खा लेंगे इसी प्रकार अभी अपने को दुखी मानता है किंतु जब ज्ञान हो गया सपने से जगने के बाद फिर झूठा मांगकर खाएगा या गरम गरम मांगकर खाएगा पेट भर खाया खाकर उसे और का देले पर नहीं खाएगा पेट भर खाया सपने देखता मैं भूखा हूं जगने के बाद खाएगा ना पानी पिएगा कुछ नहीं सब भरा हुआ है इसी प्रकार जब जग जाता है तो कोई कुछ किसी की चाह नहीं है अपने स्वरूप में स्थित हो गया अपने को देखता मैं नित्य मुक्त हूँ यस्माद आपतात पदार्थ अप्रच्युत पास प्रच्युत नहीं होता है प्रच्युत नहीं होकर सन भूय पुनः न जाते भूयो न जाए अस्मात् भूयो न जाते भूय फिर जन्म नहीं होता है कितने बार पहले जन्म हो गया करोड़ों करोड़ बार किंतु ज्ञान होने के बाद आगे जन्म नहीं होगा न तो संसार संसार में फिर नहीं आएगा ज्ञान हो जाए तो जिस प्रकार प्रागह की उत्पत्ति नहीं होती घट बनते नष्ट हो गया जो कुछ भी करे इसी प्रकार ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो गया आगे जन्म नहीं होगा अब विचार करने पर ज्ञान अवश्य हो जाता है विचारा जाए तो बोध अनिचायम न निवर्तयत बोध ज्ञान अवश्य हो जाएगा विचार उसका साधन हो तो इच्छा अनिच्छा होने पर भी इच्छा नहीं होने पर भी ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान होते ही स्वोत्पत्ति मात्रा संसार दहत अखिल सत्यता ज्ञान की उत्पत्ति होते ही संसार में सत्य तो बुद्धि नष्ट हो गई इनमें नित्य मुक्त हूँ आगे जन्म पहले भी जन्म मरण नहीं है भ्रांति से कल्पना करता है मैं अलग मानता था भ्रांति निवृत्ति हो गई तो दोबारा फिर जन्म नहीं होता है ना भ्रांति होती है नित्य मुक्त है वही संसार जन्म नहीं लेता है किम तत्पदम इत्याह जिस पद को प्राप्त करता है वो तो पद कौन सा है यस्मा सतो तत्पदम आपनति पद्यते गमेति पदम प्राप्तव्य शुद्ध ब्रह्म है विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवा नरः शोध्वनः तद तद्विष्णोः परमं पदम् विज्ञान यस्तु विज्ञान सारथि विज्ञान है विवेक बुद्धि वाले सारथि वाला सारथि वाले अस्तु जिसकी सारथि बुद्धि बुद्धि नामक सारथि निपुण हो विज्ञान सारथि विज्ञान वाला मन प्रग्रहवान रह यह यस्तु नरह मन प्रग्रहवान मन रूप प्रग्रह वाला है प्रग्रह वाला है मतलब समाहित मन प्रग्रह वाला है सो अध्वन आपनति ये अध्वन मार्ग रास्ता संसार की रास्ता गति है संसार गति अनादि काल से शुरू हुई और अनंत है ज्ञान जब तो नहीं होता है तो अंत नहीं होता है चलते रहो चलते रहो चलते रहो समाप्त होगा ही नहीं ऐसे तो चल रहा है अनादिकाल से कितने साल चले गए कितने कल्प कितने कल्प ने कितने कर रो कर रो कल्प चलता ही रहता है चलता ही रहता है समाप्त तो होगा ही नहीं ये आकाश का लंबा चौड़ा हिसाब करने के लिए पूछो वैज्ञानिक लोगों को कितने लंबा ऊपर कितने चलने पर आकाश समाप्त होगा मालूम है कितने साल चलेंगे तो बड़े जो रॉकेट है बहुत शीघ्र जाने वाले रॉकेट में बैठ करके चलेंगे कितने करोड़ साल जाने पर आकाश समाप्त हो जाएगा मालूम है समाप्त होगा नहीं इसी प्रकार सपने में आकाश देखता है जगने के बाद वो सपना आकाश समाप्त होता है रहता है तो अपने में जो आकाश देखा था जगने के बाद वो आकाश रहता है नहीं समाप्त होता है और ऐसे चलता रहेगा तो सपने में समाप्त हो जाएगा नहीं चलते रहेगा तो समाप्त तो नहीं होगा जग जाने पर समाप्त हुआ इसी प्रकार ये जो आकाश दिखता है कितने बड़ा इसको समाप्ति अंत कैसे होगा कहाँ अंत है बड़े-बड़े बुद्धिमान वैज्ञानिक को नहीं जानते हैं अरे वेदांत जानता है वेदांती जग गया ज्ञान हो गया अपने स्वरूप को स्वरूप का साक्षात्कार हो गया तो आकाश कितने बड़ा है पता चलेगा आकाश है ही नहीं झूठा है दिखता है क्या किसको मापेगा सपना जिससे जगने के बाद बता देगा आकाश कितने लंबा चौड़ा था पता चलेगा कहेगा बड़े बड़े लगता था बड़ा क्या कहेगा आकाश ना आकाश था ना हाथी था ना पहाड़ था कमरे के अंदर सपने में देखा कि बहुत बड़ा आकाश समुद्र पहाड़ सब देख रहा था जगने बाद तो कहेगा इतने बड़ा समुद्र था करके समुद्र था ही नहीं कमरे के अंदर आंख बंद कर सोया है झूठा इसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर आकाश आदि कुछ है ही नहीं सब ये मार्ग संसार जो गति है पार को प्राप्त कर लेता है समाप्त हो जाता है उसके बिना समाप्त नहीं होता है जग जाने पर ज्ञान होने पर समाप्त होता है स्वध्वन पारमाप्नोति अधर संसार गति उसके पार को प्राप्त कर लेता है ज्ञान से ही ज्ञान के बिना अज्ञान से पार को प्राप्त नहीं करेगा अज्ञान में तो उसका संसार गति बहुत लंबी है अनादि अनंत है जो प्राप्त कर लेता अध्ययन परम वो क्या है तद विष्णु हो परमम पदम विष्णु हो व्यापक से ब्रह्मण विष्णु शब्द का अर्थ ये चतुर्भुज विष्णु नहीं ब्रह्मा विष्णु वैसे विष्णु विष्णु शब्द वो विष्णु का लक्ष्यार्थ है विष्णु शब्द से विष्णु लेंगे तो उनका लक्ष्यार्थ लेना वाच्यार्थ नहीं लेना लक्ष्यार्थ शुद्ध व्यापक है व्यापक विष्णु का जो परम पदम निरतिशय है परम उससे अतिशय नहीं है उससे बढ़कर नहीं है विष्णु का परमम पदम पद्यति गमेति तो पदम स्वरूपम विष्णु स्वरूपम कहेंगे तो विष्णु अलग उनका स्वरूप अलग <clears throat> यहाँ षष्ठी विभक्ति गौण प्रयोग है विष्णु परम पदम विष्णु अलग और उनका स्वरूप अलग ऐसा नहीं विष्णु ही स्वरूप है परम पद दृष्टान देते राहु सिर राहु का सिर सिर कोई राहु कहते कहते राहु का सिर मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप मतलब मैं अलग स्वरूप अलग कहीं ऐसे कहेंगे तो देहादि को मैं मान करके पारमार्थिक स्वरूप के मेरा स्वरूप यहाँ तो विष्णु ही ब्रह्म है परब्रह्म ब्रह्म है उनका जो परम पद को प्राप्त कर लेता है ऐसे विज्ञान सारथी वाला हो तो भाष्य में विज्ञान सारथिर अस्तु यो विवेक बुद्धि सारथी विवेक बुद्धि सारथी वाला पूर्व मन प्रग्रहवान मन समाहित मन है जिसका प्रग्रह हो प्रगृत मन प्रगृत मन मतलब समाहित चित्त समाहितम चित्तम यस्य समाहित चित्त सन सुचिर नरो चित्त समाहित है तो पवित्र है मन यदि एकाग्र है विषय चिंतन छोड़ करके आत्मा में लगा है संस्थ मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित आत्मा में मन को लगा और कुछ चिंतन छोड़ दे सब तब पवित्र है यही पवित्रता है मन में सब परम पवित्र है कि परमात्मा का चिंतन करता और कुछ नहीं संसार में मन जाता है तो नाम रूप मिथ्या निश्चय करके चिंतन करता है तो परम पवित्र मन होता है सुचिर नरो विद्वान वही से विद्वान ज्ञानी है स्वध्वन अध्वन परमाप्नोति अध्वन मार्ग संसार गते संसार मार्ग का पारम परम एव पारा परम को प्राप्त करता है ब्रह्म अधिगंतव्यम इत्येतद् जिसको प्राप्त करना है पार है पर ब्रह्म जिसको प्राप्त करना है उसको प्राप्त कर लेता है आपनति मुच्यते सर्व संसार बंधन ही उसको प्राप्त करने से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है पूरा पूरा संपूर्ण बंधन से स्वप्न में जितने बंधन है जगते ही सब उस बंधन से मुक्त हो गया कुछ करना नहीं पड़ता है जगते ही जगते जागृत अवस्था का आया पूरा स्वप्न बंधन समाप्त है तृप्त हो गया आनंद हो गया इसी प्रकार ज्ञान होते ही सारे बंधन से रहित हो गया उस ज्ञान के बिना बंधन समाप्त नहीं हो सकता है जिस पर स्वप्न का बंधन जगे बिना जागृत अवस्था में नहीं आए जितने रोने पर चिल्लाने चिल्लाने पर नहीं नष्ट होता है तद विष्णु हो परम पदम विष्णु का अर्थ क्या व्यापनशीलस्य ब्रह्मण विष्णु शब्द का अर्थ व्यापनशील व्यापनम शीलम यह स्वभावतः व्यापक है वेवेसी चराचरम चर अचर जड़ चेतन सब के व्याप्त करने वाले विष्णु ब्रह्म है वही अनंतम ब्रह्म देश काल वस्तु परिच्छेद रहित सब देश में सब काल में सब वस्तु ब्रह्म उससे भिन्न कुछ नहीं ऐसे विष्णु परम पद विष्णु का अर्थ ब्रह्म ब्रह्म का अर्थ शुद्ध चेतन ब्रह्मार्थनी जो विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक ब्रह्म परमात्मा न हुई परमात्मा है वासुदेव आख्यस्य वासुदेव आख्यायस्य वासुदेव वासुदेव सर्वम गीता में कहा वो वासुदेव है ब्रह्म ही है जो श्री कृष्ण कहते हैं वासुदेव उनका लक्ष्यार्थ लेना वाच्यार्थ नहीं वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव शब्द ये आख्या नाम वासुदेव नाम जिसका नाम रूप सब मिथ्या है वासुदेव नाम हो हरि नाम हो हर नाम हो ब्रह्म नाम हो ओम नाम हो कुछ भी हो सब नाम रूप मिथ्या है शुद्ध चेतन है उसको कहने के लिए कुछ शब्द आश्रय करते हैं तो वासुदेव शब्द से कहा गया सर्वम वासुदेव का सर्वम ब्रह्म कहो सर्वम अहम सब एक ही तत्व है वो ये वासुदेव रूप ब्रह्म है परमम प्रकृष्टम पदम स्थानम सबसे निरतिशय पद स्थान है पद स्थान पद है प्राप्तव्य वस्तु स्वरूप है सतत्वम इति वही परम पदम स्थान का तो सतत्वम सतत्वम तो स्वरूपम तत्व सर्ववास्तव स्वरूप वही पद है हाथ पाद आदि नहीं वही पद स्थान स्वरूपम वास्तव स्वरूप है इत यद असौ आपनोति प विद्वान यदा साब आपन यद असौ विद्वान आपनोति असौ का तो विद्वान वो विद्वान जिसको प्राप्त करता है वही पर ब्रह्म स्वरूप है पारमार्थिक स्वरूप सत्वम स्वरूपम निरतिशेष स्वरूप पारमार्थिक पद है जिसको प्राप्त करता है ज्ञानी जिसको जाने पर फिर दोबारा नहीं आता है संसार में उसको प्राप्त करता है अब उसी पद को बताने के लिए आगे ये तो पद शब्द कह दिया उसको जानना है ज्ञान से प्राप्ति है तो ज्ञान कैसे होगा है व्यापक सर्वत्र है किंतु निरतिशय सूक्ष्म है सूक्ष्म मतलब उसमें जिस प्रकार पृथ्वी स्थूल है उसकी अपेक्षा जल थोड़ा सूक्ष्म है पृथ्वी में गंध है जल में गंध नहीं जल में रस है तेज में रस नहीं तो तेज जल से थोड़ा और सूक्ष्म हो गया जल में रूप है वायु में रूप नहीं तो तेज जल में तेज में रूप है वायु में रूप नहीं तेज की अपेक्षा वायु सूक्ष्म हो गया वायु का स्पर्श होता है और स्पर्श नहीं तो आकाश में स्पर्श नहीं होने से वायु से भी आकाश स्पर्श हो गया सूक्ष्म हो गया वायु से भी आकाश सूक्ष्म हुआ स्पर्श नहीं होने से आकाश में शब्द उत्पन्न होता है वो शब्द गुण ब्रह्म में भी नहीं इसलिए आकाश से भी सूक्ष्म है सबसे सूक्ष्मतम है तो सूक्ष्मतर होने से सबके अंदर बाहर होने पर भी जिस प्रकार पृथ्वी का ज्ञान स्पष्ट होता है जल थोड़ा सूक्ष्म है तेज और सूक्ष्म है वायु और सूक्ष्म है आकाश और सूक्ष्म है इसी प्रकार ब्रह्म सब से सूक्ष्मतम है सब के अंतरतम है उसका ज्ञान होने के लिए स्थूल आरुंधति न्याय से स्थूल स्थूल पदार्थ देखा करके सूक्ष्मतम पदार्थों को दिखाते हैं इसको दिखाते हैं तभी उसका ज्ञान संभव है ओम